अष्टादश मंत्र ये तस्मा जायते प्राण मन सर्वेन्द्रिया च खम वायुर्ज्योतिरापश्च पृथ्वी धारिणी जो अधिष्ठान है जागृत स्वप्न सुश्रुति का दृष्टा है आधार है प्रपंच का अधिष्ठान है तस्मा जायते प्राण प्राण से उत्पन्न होता है अंतकरण में दो शक्ति ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है क्रिया शक्ति प्राण और ज्ञान शक्ति मन सर्वेन्द्रियाणी च सर्वेन्द्रियाणी कौन से ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्र सब लेना है और भूत खम आकाश वायु ज्योति ज्योति दिया ज्योति चाहिए ज्योति तेज आपस्य जल पृथ्वी जो विश्व से धारिणी पृथ्वी का विशेषण है सारे विश्व को धारण करने वाले ये तस्मात पुरत्र अधिष्ठानात ये तस्मात का अर्थ पुरत्रय का जो अधिष्ठान है पुरत्रय का अधिष्ठान कौन है कहाँ है बुद्धिर द्रष्टुर जो बुद्धि का दृष्टा है वही अधिष्ठान है बुद्धि का साक्षी दृग तो एक ही है जो अधिष्ठान चिद्रूप दृग है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म और चेतन दृक है वो दृक बुद्धि का साखी है अपनी बुद्धि को जानने वाले प्रत्यक्ष देखने वाले जो चेतन है वही पुरत्र का अधिष्ठान जिसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ बुद्धि का साक्षी है आप बुद्धि को जानते हैं बुद्धि के दृष्टा है बुद्धि को प्रकाश करने वाला जो चेतन है वही एक ही चेतन है दृक वही अधिष्ठान पुरते दृष्ट पुरत्र अधिष्ठानात बुद्धेर द्रष्टु बुद्धि के दृष्टा से बुद्धेर क्या भी होती है दृष्टु हो हाँ पंचमी षष्टी नहीं दृष्टु हो अधिष्ठान बुद्धि के दृष्टा से पंचमी सप्तमी तो एक रूप बनेगा पंचमी बुद्धि के दृष्टा से पूर्वत्र के अधिष्ठान से जायते जायते का तो उत्पद्यते उत्पन्न होता है प्राण क्रिया शक्ति है मन है अंतकर्ण ज्ञान शक्ति है अंतकर्ण के मन बुद्धि चित्त अहंकार चार वृत्ति होती है तो मन शब्द से भी अंतकर्ण कह देते हैं वृत्ति मन है संकल्पात्मक वृत्ति वृत्ति वाला है अंतकरण वृत्तिमत तो वृत्ति वृत्तिमत में अभेद प्रयोग होता है इसलिए अंतकरण को मन शब्द से भी कह देते हैं कहीं बुद्धि शब्द से कह देते हैं तो यहाँ मन का अर्थ अंतकरण ज्ञान शक्ति सर्वेन्द्रिया च सर्वेन्द्रिया सर्वाणी चाने इंद्रिया च सर्व ज्ञान कर्मेन्द्रिया इंद्रिया च ज्ञान के इंद्रिया अभी च शब्दात देहादिकम सब कुछ उत्पन्न होते सारे प्रपंच आकाश आदि भूत के द्वारा तो नहीं है प्राण इंद्रिय देहादि आकाश उत्पत्ति के द्वारा ही उत्पत्ति तो भी सब की उत्पत्ति है तो देहादि का भी कम अपनी जायते खम का अर्थ नभ आकाश शब्द गुणवत् शब्द गुण वाला शब्द गुण शब्द गुण उसके बाद मतु प्रत्यय करेंगे कहीं कहीं ऐसे कहते शब्द गुण शब्द गुणम शब्द गुणो यस्मिन आकाशे तद आकाशम शब्द गुणम ऐसे प्रयोग होता है वायु नवस्वान नवस्वान है वायु है ज्योति ही तेजो धातु धातु पदार्थ है तेज पदार्थ आप नीराणी बहुवचन पृथ्वी भूमि विश्व से धारिणी विश्व से निखिल से सारे सब को धारण करने वाले स्थावर जंगमात्मक प्राणी जात से धारिणी विश्वधारिणी स्थावर जंगम स्थिर रहने वाले स्थावर वरज प्रत्यय हो जाता है स्थे पिस वसो क्वरच ईश्वर बनता है स्थावर पेश्वर बनता है स्थास स्थेष पिछा बसो वच वरज क्वरज या वरज वरज है स्थास्वर पेश्वर हाँ वरज है स्थावर जंगम चलने फिरने वाले ये प्राणी जितने हैं प्राण धारण करने वाले प्राणी प्राण धारण करने वाले जैसे जीव पशु पक्षी है मनुष्य आदि है ऐसे वृक्ष भी है उसको जंग स्थावर कहते हैं और जंग में चलने फिरने वाले पशु पक्षी आदि सबको धारण करने वाले पृथ्वी है सबका अधिष्ठान ब्रह्म है और ये बाह्य पदार्थ जो दिखते हैं प्राणी वर्ग सब विश्व में है पृथ्वी में है जल में भी है वायु लोक तेज लोक भी है वहाँ भी है तो ये जो दिखते हैं स्थावर जंगम आदि सबका धारण करने वाले पृथ्वी भी उससे उत्पन्न होती है ये श्रुति प्रमाण के बिना अन्यत्र सामान्य रूप से कहती ये तो सब बड़े बड़े कहाँ से आएगा ये तो पहले से ही मीमांसा लोग सृष्टि प्रलय नहीं मानते हैं और आकाश की उत्पत्ति तो ये कल्पना नहीं कर पाते हैं तार्किक लोग वैज्ञानिक लोग कल्पना भी नहीं कर पाते उत्पत्ति संभव नहीं तो पृथ्वी पहाड़ पर्वत आदि ये उत्पन्न हुआ कहाँ से उत्पन्न हुआ विचार करें कि देखेंगे ये कितने स्थूल प्रपंच है बड़े बड़े चंद्र सूर्य आदि नक्षत्र है बड़े बड़े पर्वत पृथ्वी कितने बड़ा है और शुद्ध निर्विशेष ब्रह्म से सब की उत्पत्ति है निर्विशेष ब्रह्म और सामग्री कहाँ से लाएगा वही उपादान कारण भी है निमित्त कारण भी है उपादान कारण यदि हो तो वो कितने बड़ा होगा पर्वत से ही बड़ा होगा बड़ा तो है पर्वत से भी कठिन होगा उसका कुछ टुकड़ा टुकड़ा करेंगे तो पत्थर अवय बनेगा निरवय है अवयव नहीं है ये सब विचार करने पर निरवयव एक शुद्ध निष्क्रिय ब्रह्म से सारे जगत की उत्पत्ति माया से उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो समाधान नहीं हो सकता है इंद्र माया भी रूपये तो माया से ही सबकी उत्पत्ति माया है शक्ति वो शक्ति भी वास्तव नहीं है अनिर्वचनीय कहते हैं वो अनिर्वचन शक्ति के संबंध से माया से उत्पत्ति कहते समय माया को समझे ना माया आशय का अर्थ वास्तव उत्पत्ति नहीं है बोलते सुनते कहते कहते माया माया कहते किंतु माया से उत्पत्ति कहते समय ये नहीं लगता है कि उत्पत्ति नहीं हुई जादूगर दिखा देता है बनाया नहीं दिखा देता है इसी प्रकार ईश्वर के संकल्प से ये सब जैसे स्वप्न प्रपंच आप बना देते हो निद्रा के दोष से स्वप्न सब देखते हैं ऐसे ही बड़ा प्रपंच आकाश भी दिखता है चंद्र सूर्य पर्वत नदी सब ये थोड़े समय सोते सो गया नींद लगी थोड़े समय सपना प्रपंच पूरा बन जाता है इतने इतने बड़े बड़े पर्वत छोटा छोटा बनता है सपने में बड़ा बड़ा समुद्र कभी देखेगा तो छोटा समुद्र दिखता है जो कमरा के अंदर रहने वाला या बड़ा दिखता है पूरा पूरा बड़ा पर्वत सूर्य चंद्र सब जो कि कमरा के अंदर के नहीं रह सकता है कमरा के अंदर के अपने शरीर के अंदर दिखते हैं आँख बंद है मन में सब दिखता है इसी प्रकार ये सारे प्रपंच है सपन दिखते समय बिल्कुल सत्य लगता है ये जागृत जैसे सत्य लगता है जैसे सत्य लगने पर भी सपना प्रपंच की उत्पत्ति नहीं वास्तव नहीं है इसी प्रकार ये श्रुति कहती नेह नानास्ति किंचन सत्य लगने पर भी प्रपंच वास्तव नहीं इसलिए माया से उत्पत्ति सब की उत्पत्ति इसी से और वो जैसे रज्जु से सर्प की उत्पत्ति इसी प्रकार ब्रह्म है विवर्त कारण सारे जगत ब्रह्म का विवर्त एक होता परिणाम एक होता विवर्त तात्विक अन्यथा भाव होगा तो उसको कहते परिणाम अतात्विक अन्यथा भाव होता है तो विवर्त यश तात्विक अन्यथा भाव विवर्त परिणाम उदीरित यश तात्विक अन्यथा भाव परिणाम उदीरित अतात्विक अन्यथा भाव भाव विवर्त स उदीरित अतात्विक अन्यथा भाव होगा तो उसको कहेंगे विवर्त राज्य में जो सर्प दिखता है उस रज वास्तव सर्प रूप धारण कर लेते हैं रज्जु अपने रूप से रहते हुए अन्यथा दिखता है इसलिए विवर्त और तात्विक अन्यथा भाव दूध दही बन गया तात्विक अन्यथा भाव वो परिणाम है ये विवर्त है ब्रह्म का जगत विवर्त है वास्तव अन्यथा भाव है ही नहीं ब्रह्म जैसे को ऐसे ही है जैसे सदरूप ब्रह्म पहले था इसी प्रकार सर्वम कल इदम ब्रह्म अभी भी ब्रह्म ऐसे ही है कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तब उसका नाम अच्युत ब्रह्म है स्वरूप से कभी चित्त नहीं होता है केवल माया के कारण सर्प के अज्ञान से रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है जिस प्रकार ब्रह्म तत्व के अज्ञान से प्रपंच दिखता है जागृत अवस्था में भोजन करके सोया निद्रा के दोष से जागृत अवस्था का भान नहीं होता है जागृत शरीर का भान नहीं होता है जागृत काल में देश आदि का देश काल आदि का भान नहीं होता है तो सपन प्रपंच में सृष्टि करता है कल्पना सब इसी प्रकार स्वरूप के अज्ञान से ही सब जो श्रुति में सृष्टि कही जाती है वस्तु तो सृष्टि हुई सृष्टि में तात्पर्य नहीं है कार्य दिखता है तो ये ब्रह्म से उत्पन्न कहने पर कारण में ही कार्य रह सकता है अन्यत्र नहीं रहेगा कारण में ब्रह्म में कार्य दिखता है निश्चय हो गया उसके बाद कार्य कारण से अलग नहीं है जैसे मिट्टी से अलग घट नहीं है मिट्टी को अलग करेंगे तो घट नहीं रहता है घट बनने के बाद भी मिट्टी ही है इसी प्रकार पृथ्वी कार्य है जल से भिन्न नहीं है जल कार्य है तेज का तेज से भिन्न नहीं है ऐसे करते करते ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है ब्रह्म जिस प्रकार मिट्टी से बने गए घट सर्वादि में सर्वत्र मृत रूप की अनुगति मिट्टी है घड़ा इसी प्रकार सदरूप ब्रह्म से उत्पन्न कार्य सब सत सत अस्ति अस्ति सत आकाश भी सत है वायु भी सन वायु सत तेज आप क्या कहा जाएगा सत्य आप सत्य स्त्रीलिंग शब्द है तर्क संग्रह में आता है सत्य शीत स्पर्शवत्य आप और पृथ्वी सती सदरूप है ये जितने सब घटा आदि सत सत कहते इसलिए जैसे सुवर्ण से बनाएंगे भूषण जितने भूषण बनाएंगे सब सोना ही है सदरूप ब्रह्म का कार्य उनसे से सब सत सत जिस प्रकार मिट्टी से भिन्न घट की सत्ता अलग है ही नहीं घट बनने के बाद भी मिट्टी ही है इस प्रकार ये सारे प्रपंच में सदरूप ब्रह्म से अलग सत्ता है ही नहीं है सारे जगत दिखते समय भी ये सत ब्रह्म ही सत ही है घट सर्वादि बहुत बन जाने पर भी मिट्टी तो मिट्टी है सोना सोना ही है सोना का अलंकार भूषण बहुत बनने पर भी सोना सोना है अलंकार जितने सो सोना है या जो उसमें अलंकार नहीं बना है वो सोना है अलंकार जो नहीं बना सोना भी है जो बन गया वो सोना है भूषण बनाने के बाद तो सोना रहेगा तोड़ने पर सोना का नष्ट नाश नहीं होता है भूषण का नाश हो जाएगा इसी प्रकार प्रपंच की सृष्टि प्रलय होने पर भी सदरूप ब्रह्म का कुछ नहीं होता है सब सदरूप ब्रह्म ब्रह्म सर्वत्र किस रूप से है सदरूप से जैसे सर्वत्र मिट्टी है ऐसे इसलिए अभी भी सत रूप से अन्य कुछ नहीं श्रुति कहते नेह अस्थि किंचन सत को छोड़कर अलग नहीं है घाटो अस्थि पटो अस्थि कहते समय वहाँ दो अंशों को देखे ना एक अस्थि सद है और एक घट जो अस्थि सदरूप है सर्वत्र घट पट पुष्प फल सब के साथ अनुगत होने से वो वास्तव है और घटपट आदि है इसका अव्यतिरिक होता है अभाव हो जाता है जिसका कहीं अभाव है कभी अभाव हो गया वो सत नहीं है तो सदरूप ब्रह्म वही है जो सर्वत अनुगत है वही ज्ञान है वही बुद्धि का साक्षी है वो आप तो नहीं है बुद्धि का साक्षी वही कहते समय लगता है कोई उधर बैठा है बुद्धि का साक्षी वही जो जानने वाला वही आपका स्वरूप है आप मतलब देह को नहीं लेना आप कौन है जो बुद्धि का साक्षी है वही आप है वही विश्व का सबका कारण है माया से कारण कहा जाता है बुद्धि के साक्षी आत्मा का आत्म को समझ लिया तो मोक्ष हो जाएगा या नहीं बुद्धि के साक्षी में हूँ जान लिया मोक्ष हो जाएगा ये तो एक श्लोक श्लोक पढ़ने से ही मालूम हो जाएगा <laughs> बुद्धि के साक्षी मालूम हो गया और कोई जरूरत तो नहीं बुद्धि के साक्षी आत्मा को जानने से नहीं हुआ बुद्धि के साक्षी आत्मा है और परमात्मा कोई दूसरा है ये सब हो सकता है ना नहीं इसलिए आत्मा के साथ ब्रह्म की एकता का ज्ञान पंचदश में पहले आया इत्थम वाक्य तदर्थानुसंधानम श्रवण भाई तो नहीं पहले आया तर्क के द्वारा नहीं वो श्रवण मनन नहीं है तर्क के द्वारा आत्मा का निश्चय हो जाएगा किंतु दोनों की एकता का ज्ञान श्रुति से तर्क से तो पंचदश में पहले तर्क करके बताया आत्मा का ज्ञान हो जाएगा त्वम पदार्थ का निश्चय हो जाएगा मैं कौन हूँ विचार करने पर जो सबको जानने वाला चिद रूप में हूँ तो ज्ञान हो गया किंतु ब्रह्म के साथ एकता का ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा वही ब्रह्म है ये महावाक्य से ज्ञान होगा महावाक्य से ज्ञान होना है तो वही महावाक्य प्रमाण है तर्क के आधार पर त्वम पदार्थ का तो ज्ञान हो जाएगा जो सबको जानने वाला मैं हूँ किंतु वो ब्रह्म है जगत का अधिष्ठान है ये महावाक्य से ज्ञान होगा महावाक्य अर्थ बोध होने के पूर्व होने के पहले त्वम पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए संशय विपर रहित तो ज्ञान जब मैं क्या हूँ इसको ठीक नहीं समझ करके मैं ब्रह्म जितने सोचे वो नहीं होगा क्योंकि लक्ष्यार्थ का ज्ञान चाहिए लक्ष्यार्थ का ज्ञान तो शब्द से हो जाता है बुद्धि का साखी कूटस्थ इतने मात्र से नहीं होता है मैं कहते समय देहादि में अहम बुद्धि नहीं हो बुद्धि का साक्षी जो कुटस्थ चेतन इसी में अहम बुद्धि हो मैं अहम तब ब्रह्म के साथ एकता होती है इसलिए अभी इधानी महावाक्यार्थ माह महावाक्य का अर्थ कहते हैं यदि बुद्धि साक्षी का ज्ञान हो गया तो महावाक्यार्थ का क्या जरूरत है महावाक्यार्थ ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा बुद्धि के साक्षी त्वम पद का लक्ष्यार्थ हो गया किंतु वही ब्रह्म है ये निश्चय होना चाहिए तत्व से वाक्य के द्वारा वही उपदेश किया जाता है जो तुम बुद्धि का साक्षी हो वही ब्रह्म है बुद्धि के साक्षी मैं हूँ सबकी बुद्धि अलग अलग है सबकी बुद्धि के साक्षी चेतन अलग अलग है और ब्रह्म का ऊपर बैठा है ऐसा नहीं ब्रह्म तो सबके अंदर बाहर व्यापक चेतन है वही बुद्धि के साक्षी सबके बुद्धि के साक्षी एक है अभी जैसे आप देखने देखते हैं बहुत को देखने वाला आप बहुत लोगों को देख सकते हैं नहीं देख सकते एक साथ देखते हैं बहुत को देखते समय आप एक रहते हैं बहुत हो जाते हैं दृश्य अनेक होने पर भी दृष्टा एक है इसी प्रकार बुद्धि बहुत होने पर भी बुद्धि का साक्षी एक है हमको देह भेद से ही चेतन भिन्न भिन्न लगता है देह अनेक है तो देह के अंतकरण में चेताहास होने से उसके भेद से अनेक जीव ऐसा लगता है किंतु एक ही आकाश जिस प्रकार सब के अंदर बाहर है इसी प्रकार एक ही चेतन है सबके अंदर बाहर है वही ब्रह्म है उसके साथ चेत तम पदार्थ लक्ष्यार्थ की एकता चाहिए एकता तो है ही उसका ज्ञान चाहिए अहम अस्मि ब्रह्म उसी से मुख्य होगा इसलिए वाक्यार्थ कहते उसके ज्ञान के लिए ज्ञान हो यत परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनम महत सूक्ष्म सूक्ष्मतरम नित्यम तत्व तमेव तत् यत परम ब्रह्म जो परम ब्रह्म है ब्रह्म शब्द का है व्यापक है परम कौन से और उत्कृष्ट है व्यापक ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रिंग विद्ध धातु से बनता है क्या सूत्र मिहिर नो अच्छ व्यापक है देश काल वस्तु परिच्छेद रहता है सब देश में है सब काल में है सारे वस्तु वही ब्रह्म है ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है सर्वात्मा सर्व आत्मा यस्य स सर्वात्मा परमात्मा ही सर्वात्मा है सबका आत्मा एक ही यत परम ब्रह्म सर्वात्मा जो परम ब्रह्म है वही सर्वात्मा है आत्मा अलग अलग नहीं है देह में चिदाभास में अहम बुद्धि करके सबका आत्मा अलग अलग लगता है जो परब्रह्म वही सर्वात्मा है सर्वेशा आत्मा सर्वेशा आत्मा न बहुवचन नहीं दिया सर्वात्मा एक है ब्रह्म सर्वात्मा है सर्वेशा आत्मा कहो तो सर्व आत्मा ऐसे सब कुछ उसका आत्मा स्वरूप है उसे भिन्न कुछ भी नहीं है ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है जीव भिन्न है या नहीं नान्य अतोस्ती दृष्टा श्रोता मनता ब्रह्म से भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मनता है ही नहीं जितने दृष्टा अलग अलग दिखते हैं और ब्रह्म से कितने भिन्न है कोई भी भिन्न नहीं है अलग है ही नहीं दिखने पर भी नहीं है जैसे सपने में इसे दिखता है एक ही दृग रूप चेतन है उसके संबंध से जड़ पदार्थ में दृष्टित्व का व्यवहार हो जाता है जड़ है देह इंद्रिय अंतकरण जड़ या चेतन है बुद्धि ये सब जड़ है दृघ रूप चेतन के संबंध से ये चेतन जैसे लगता है बुद्धि में चिदाभास हुआ बुद्धि मन प्राण इंद्रिया करके देह को भी देखने कहते चेतन है देह को भी कहते चेतन कोई मर गया तो कहते जड़ हो गया जड़ और जिंदा है चेतन तो इस दिग रूप चेतन के संबंध से उसकी अभिव्यक्ति होती चिदाभास तो उसके संबंध से चेतन कहते आत्मा एक ही दृश्य अन्य होने पर भी दृघ रूप चेतन एक है विश्व से आयतन महत वही विश्व का आयतन है आश्रय है सबका अधिष्ठान है सारे ब्रह्मांड का आयतन है वही ब्रह्म सर्वात्मा है वही महत है महत सूक्ष्म सूक्ष्मतरम महत भी है और सूक्ष्म से बढ़कर सूक्ष्मतर है जहाँ साथ साथ महत है कुछ लोग आत्मा को कहते अणुपरिमाण अणुरणियान आगे क्या है महत्व महान को छोड़ देंगे कहेंगे देखो हमारे मत है अणु रनियान अणु से भी अणुतर है आत्मा इन सूक्षा सूक्षतरम इतने कहेंगे अरे महत्व पास में है वो नहीं जो महत्व होता हुआ सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतर हो और महत्व हो बड़ा भी हो छोटा भी हो ये परस्पर विरुद्ध होता है पर्वत से भी बड़ा है और श्यामा का तंडुल उससे भी छोटा है सूक्ष्म सूक्ष्मतरम यहाँ सूक्ष्म का तो परिमाण छोटा ऐसा नहीं है व्यापक है और सूक्ष्म के अंदर भी रहता है जिस प्रकार आकाश आकाश व्यापक है आकाश को तो नित्य मानते हैं तर्क संन्याय शास्त्र में वैज्ञानिक लोग भी कहेंगे नित्य अनंत है आकाश का अंत कहीं हो जाता है कितने दूर चलने पर आकाश समाप्त हो जाएगा ऐसा नहीं है बड़े बड़े वैज्ञानिकों लोग वैज्ञानिक बड़े बड़े तो समझते हैं बीच वाले सामान्य लोग कहते विज्ञान कहाँ ऊपर उठ गया क्या ये घटपट करते हैं क्या वेदांत करेगा गीता पढ़ने से क्या होगा वेदांत कहते वैज्ञान विज्ञान बहुत ऊपर उठ गया बहुत ऊपर उठ गया तो बताओ कितने दूर जाने के बाद आकाश समाप्त तो हो जाएगा बता सकते हैं आकाश जितने बड़ा है उसमें से कितने अंश का ज्ञान हो गया वैज्ञानिकों को विज्ञान वैज्ञानिकों से पूछो सारे वैज्ञानिक मिल करके जितने अंश का अंश को जान लिए उसके कितने गुना बाकी है और जानने का वैज्ञानिक लोग जान लेना चंद्र आदि ग्रह को गए ऊपर रॉकेट भेजते बहुत कुछ ऊपर ग्रह नक्षत्र आदि बहुत कुछ जान लिया जितने जान सके जानते हैं उसके आगे और कितने गुना बाकी है जानने के लिए थोड़ा विचार करो कभी सौ गुना एक हजार गुना एक करोड़ गुना कितने गुना है मालूम है कितने हम्म क्या है अहंकार कितने गुना कुछ हिसाब नहीं कर सकते हैं जिसका अंत नहीं है सर्वत्र व्यापक है सारे ब्रह्मांड से बढ़कर के किंतु आकाश भी जैसे स्वप्न में देखते हो आकाश कल्पित है इसी प्रकार आकाश भी कल्पित है तब परिमाण निश्चित हो जाएगा कल्पित में क्या परिमाण है स्वप्न में देखा आकाश उसका परिणाम परिमाण क्या है दिखता है ऐसा है ही नहीं इसी प्रकार मरु में जल दिखता है कितने जल दिखता है कितने टन कितने किलो कितने लीटर क्या है उसका कुछ जल दिखता है इसी प्रकार आकाश सबके अंदर भी है इतने बड़े व्यापक होने पर भी यथा सर्वगतम सौक्ष्मियाद आकाशम नोपलिप्यते सर्वगत आकाश है किंतु सूक्ष्म कहा गया आकाश जो सर्वगत सूक्ष्म कहा तो अनुपरिमाण है आकाश आकाश सर्वगत आकाश अनुपरिमाण कहा गया इसे सूक्ष्म शब्द सुनते ही आकाश के साथ सूक्ष्म जोड़ा जोड़ा है गीता में भगवान ने वो सूक्ष्म है इंद्रगम्य नहीं है उसमें गुण नहीं रहता है शब्द रू शब्द कुछ शब्द तो रहता है रूप नहीं स्पर्श नहीं पृथ्वी जल तेज का रूप है वायु का स्पर्श है आकाश का रूप है स्पर्श है जो नील रूप दिखता है आकाश का नहीं भ्रांति है तो वो इसलिए सूक्ष्म है सूक्ष्म से सूक्ष्म तर कहने का अभिप्राय जितने भी छोटा हो उसके अंदर भी आकाश है रहेगा आकाश छोटे सुई के छिद्र है छिद्र में आकाश रहेगा छिद्र भर देंगे तो रहेगा हाँ तब के अंदर बाहर जिस प्रकार आकाश है इसको थोड़ा समझ आकाश को विचार करे कितने बड़ा आकाश है कभी कभी आकाश को देखो आकाश को देख करके विचार कर कितने बड़ा आकाश है और आकाश दिखता है नील नहीं नील नहीं है और ऊपर जाओ तो ऊपर नीला दिखेगा और ऊपर जाओ तो नीचे भी नीला दिखेगा ऊपर तो दिखता है नीला ऊपर चल जाओ तो नीचे भी नीला दिखेगा कहीं पहाड़ी के ऊपर चल जाओ दूर से में ऊपर तो आकाश दिखता है नीचे भी आकाश जैसे लगेगा ऐसा ही है ही नहीं ऊपर जाने पर इससे नीचे भी आकाश जैसे लगेगा सर्वत्र आकाश ये कुछ नीला है ही नहीं आकाश ही सर्वव्यापक है ये सब के अंदर अंदर भी है व्याहार भी है सब उसको बड़ा से बड़ा कहो छोटा से छोटा कहो छोटे के अंदर भी रह जाता है निरवय मानते उसको तो आत्मा इस प्रकार व्यापक सब के अंदर बाहर एक है जो सब के अंदर बाहर एक है वो सारे प्रपंच का भी वो अधिष्ठान है वही बुद्धि का दृष्टा भी है वही आपके अंदर शरीर के अंदर भी है बाहर भी है उसको समझे महत होता हुआ भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है नित्यम और वही नित्य है नित्य वही होता है निरंतर जो हमेशा एक रूप से रहता है कभी परिवर्तन नहीं होता है जिसकी उत्पत्ति नहीं हो नाश नहीं हो तार्किक लोग कहते उत्पत्ति हो तो उसको क्या कहेंगे ध्वन प्रागवाह प्रतियोगी और ध्वंस होता है तो ध्वंस प्रतियोगी जो प्रागभाव का प्रतियोगी नहीं हो ध्वंस का भी प्रतियोगी नहीं हो ऐसा लक्षण बताते हैं प्रागभावा प्रतियोगित्व सती ध्वंसा प्रतियोगित्व नित्यत्व तो का लक्षण करते हैं अर्थात जिसकी उत्पत्ति नहीं हो जिसका नाश नहीं हो वो नित्य है आत्मतत्व तो नित्य है वस्तुतः और बाकी जितने पदार्थ की उत्पत्ति बाकी पदार्थ सब की उत्पत्ति नाश है एक आत्मतत्व को छोड़ करके और कोई भी नित्य नहीं है नित्य कितने हैं है एक ही नित्य वेदांत में एक ब्रह्म ही नित्य और कुछ नहीं वही सत्य है जो नित्य हुई सत्य है वही सत्य है नित्यम तत् त्वम एवं जो नित्य ब्रह्म है सर्वात्मा है सूक्ष्म से सूक्ष्मतर व्यापक से व्यापकतर है वही तत्त्वम एव तत्व एव तुम ही हो अर्थात तुमसे भिन्न नहीं है तम एव न तो तद अन्य तुमसे भिन्न नहीं है पर ब्रह्म तुमसे भिन्न नहीं है यहाँ तम शब्द का क्या अर्थ लेना स्थूल शरीर लेना सूक्ष्म शरीर लेना है तम शब्द का लक्ष्यार्थ लेना शुद्ध चैतन्य शुद्ध चैतन्य है लक्ष्यार्थ उससे भिन्न नहीं तद ब्रह्म तमेव तत् तत्वमेव तमेव तत् तत् त्वमेव वही तुम्हें तुम वही हो मिट्टी से घट बन गया घट मिट्टी है मिट्टी घट है मिट्टी घट है या घट मिट्टी है मिट्टी घट नहीं कोई भी घट मिट्टी से बना गया तो मिट्टी है घट लेते हैं मिट्टी से बना गया को घट कहते हैं और पीतल से ताम्र से जो बनाते उसको अलग शब्द से कहते घट नहीं कहते तो घट मिट्टी है किंतु मिट्टी घट नहीं है मिट्टी हो तो यहाँ भी मिट्टी है बाहर जाओ मिट्टी इतने ले आया वो घट नहीं है इसी प्रकार ब्रह्म सदरूप है है नहीं सारे जगत भी ब्रह्म है अब ब्रह्म सारे जगत रूप है नहीं कारण कार्य रूप होता है या कार्य कारण रूप होता है कार्य कारण रूप है भूषण सब सुवर्ण है जितने सोना सब मुकुट है क्या जो सोना का मुकुट सोना है हाँ, किंतु सोना सब मुकुट नहीं भूषण नहीं है और पिघाल करके पिंड बना दिया भूषण नहीं है किंतु सोना है किंतु यहाँ तत्वमेव त्वमेव तत् कह करके दोनों की अत्यंत अभिन्नता कही जाती है कार्य कारण रूप है कारण कार्य रूप नहीं है घट मिट्टी रूप है मिट्टी घट रूप नहीं है अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान रूप है अधिष्ठान अध्यस्त नहीं है रज्जु में सर्प दिखता है वो सर्प का वास्तव स्वरूप क्या है रज्जु सर्प रज्जु है या रज्जु से भिन्न है रज्जु है रज्जु से भिन्न है सर्प रज्जु सर्प से भिन्न है रज्जु सर्प से भिन्न है सर्प नहीं रहने पर भी रज्जु रहती है रज्जु को देखने के बाद सर्प रहेगा रज्जु रही रज्जु रहने पर भी सर्प नहीं रहा इसलिए क्या सिद्ध हुआ रज्जु सर्प से भिन्न है और सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है क्योंकि रज्जु के बिना नहीं रहता है यहाँ इस प्रकार नहीं तत्वमेव तमेव तत् कह करके लक्षार्थ में अत्यंत एकत्व तो है लक्षार्थ शुद्ध चैतन्य ही ब्रह्म है ब्रह्म ही शुद्ध चैतन्य बुद्धि का साक्षी है जो बुद्धि का दृष्टा है साक्षी है वही ब्रह्म है जो ब्रह्म है वही बुद्धि का साक्षी है अत्यंत अभिन्न है यत परम ब्रह्म यत कहन से जो प्रसिद्ध के लिए कहते जो यत का तो प्रसिद्धम परम ब्रह्म परम का तो उत्कृष्टम ब्रह्म ब्रह्म शब्द ब्रह्मा को भी ब्रह्म कहते वेद को भी ब्रह्म कहते ब्राह्मण जाति को भी कहते तो इसलिए परम ब्रह्म कौन से जो पर ब्रह्म शुद्ध चेतन ब्रह्म वही ब्रह्म शब्द का थे तो बृहत ब्रह्म शब्द का थे तो बृहत बृहत के शब्द का अर्थ व्यापक है देश काल वस्तु परिच्छेद रहित देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम तीन प्रकार परिच्छेद होता है देश काल वस्तु कृत देश कृत परिच्छेद किस में रहेगा जिसमें क्या रहता है जिसमें अत्यंताभाव प्रतियोगित्व रहेगा वो देश परिच्छिन्न उसमें देश परिच्छेद रहेगा भाव का प्रतियोगी होता है देश परिचन्न उसको कहेंगे प्रतियोगी जिसका कहीं अभाव होता है कहीं यदि अभाव होता है वो अत्यंत अभाव का प्रतियोगी हो गया देश परिचन्न हो गया देश परिचन्न कहते तो देश से सीमित एक देश में है अन्य देश में नहीं है काल परिचन्न इस प्रकार एक काल में है अन्य काल में नहीं है कोई भी कार्य उत्पत्ति के पहले नहीं था ध्वंस के बाद नहीं रहेगा काल परिचन्न है वस्तु परिचन्न है उससे भिन्न कोई पदार्थ हो तो वस्तु परिचन्न हो जाएगा घट से बिना है पट पट से बिना घट घट पट दोनों में वस्तु परिचन्न कौन है दोनों वस्तु परिचन्न है किंतु ब्रह्म वस्तु परिचन्न नहीं इसका अर्थ ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम यही बृहत व्यापक ब्रह्म और जो देश काल वस्तु परिच्छेद रहित है उससे भिन्न आत्मा होगा आप उसे भिन्न है ईश्वर तो भिन्न हो गए कोई भी भिन्न नहीं है तभी तो वस्तु परिचय रहित तो होगा अनंतम ब्रह्म श्रुति कहती है अविद्यमान अंतो यश्य अंत शब्द का तो परिच्छेद अपरिच्छिन्न ब्रह्म परिच्छेद रहित है ब्रह्म से बिना कुछ भी मान ले तो ब्रह्म वस्तु परिचय परिचिन्न हो जाएगा ब्रह्म वस्तु परिचिन्न है या नहीं तार्किक लोग मानते ब्रह्म को वस्तु परिचिन्न कहेंगे ईश्वर को क्योंकि ईश्वर से भिन्न आकाश को नित्य मानते हैं आकाश से भिन्न पृथ्वी के परमाणु जल तेज वायु के परमाणु नित्य मानते हैं वास्तव मानते हैं तो सर्व देश आकाश को भी देश परिचन्न नहीं कहेंगे काल परिचन्न नहीं कहेंगे किंतु वस्तु परिचन्न इस प्रकार आत्मा देश परिचन्न नहीं काल परिचन्न नहीं व्यापक मानते आत्मा को और नित्य मानते हैं किंतु वस्तु परिचन्न मानते हैं क्योंकि आत्मा से भिन्न पदार्थ है न्याय मत के अनुसार वेदांत में आत्मा से भिन्न कोई भी पदार्थ नहीं है और आत्मा कितने है ये वही ब्रह्म कहो आत्मा कहो चित कहो सत्य कहो ज्ञान कहो एक ही तत्व है वही तुम्हारा स्वरूप है सर्वात्मा सर्व प्राणी स्थित <clears throat> सर्व प्राणी में स्थित वही है जैसे आकाश सब के अंदर बाहर है इसी प्रकार ब्रह्म सर्वात्मा सब प्राणी में स्थित सर्व प्राणी स्थित का तो प्राणी में आश्रित है ऐसा नहीं जैसे सिर के ऊपर टोपी रखते हैं घड़ा रखते कोई हाथ के ऊपर कुछ कलम पर रखा हाथ हटा दें तो गिर जाता है इसी प्रकार सब के आश्रित है ऐसा नहीं आकाश छात के ऊपर तो है छात के बिना आकाश रहेगा ऊपर गिरेगा नहीं रहेगा आकाश आश्रित नहीं होता है आधेय रूप से जो आश्रित होता है उसको कहते हैं आधेय अधिकरण होता है घट भूतल उसमें घट रहेगा घट हो गया आधेय आधार हो गया भूतल घट में जल रख सकते हैं तो घट क्या हो जाएगा आधार हो गया जल हो गया आधेय घट को तोड़ देंगे तो जल बह जाएगा घट जल में आश्रित तो है घट जल को खाली करेंगे घट में वायु रहेगा और घट में पानी भर देंगे तो वायु रहेगा पानी भरेंगे तो वायु निकल जाएगा ये बोतल लेकर बोतल बोतल में बोतल में पानी रखो जल जल में गंगा जी में लेकर डुबा लो उसमें वायु निकल जाता है ना जल भरने पर वायु निकल जाता है क्या भरने पर आकाश निकल जाएगा मालूम है जल भरने पर आकाश निकलेगा नहीं निकलेगा और क्या भरने भरने पर आकाश निकलेगा कोई नहीं आकाश सब के अंदर बाहर ऐसे ही वो आकाश जिस प्रकार सर्वत्र है सर्वव्यापक है किसी में आश्रित नहीं होता है इसी प्रकार आत्मा सर्वत्र स्थित का नहीं सब में आश्रित होकर किसा नहीं न चाहम तेस अवस्थित मस्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेस अवस्थित मैं उनमें अवस्थित नहीं आश्रित नहीं हूँ हृदय से जुन तिष्ठति भगवान कहते ईश्वर सर्वभूतान हृदय से रहते हैं वहाँ अभिव्यक्त होने से रहते कहा दिया आश्रित नहीं होते हैं तो सर्व प्राणी स्थित का अर्थ नहीं सब प्राणी में आश्रित नहीं किंतु आकाश जैसे आश्रित नहीं होने पर भी सर्वत्र है इसी प्रकार सर्वत्र आत्मा है उसी में सब कुछ आश्रित होते हैं अधिष्ठित है अनन्यश्च सबसे अनन्य का अर्थ क्या हुआ सबसे अभिन्न है वस्तु परिच्छेद रहित है सर्व से अभिन्न है भिन्न नहीं है किसी से भिन्न नहीं कोई से भिन्न नहीं विश्व से आयतन महत विश्व से विश्व शब्द का तो सर्व भी होता है सर्वस्य सब से किसको लेना कार्य कारण जात जितने सब है सब कार्य कारण वर्ग सब है शुद्ध ब्रह्म कार्य है क्या कारण है शुद्ध ब्रह्म कार्य नहीं कारण नहीं शुद्ध ब्रह्म को छोड़ बाकी सब कार्य है या कारण है हम्म कुछ कार्य है कुछ कारण है अविद्या कारण है कार्य नहीं है अनादि सब कारण है कार्य नहीं है और बाकी सब कार्य है कारण माया अविद्या है और बाकी कार्य है और कुछ अनादि मानते हैं वो कारण हो जाएंगे कार्य नहीं है सब कुछ कार्य कारण जात कार्य कारण वर्ग से जितने सब कारण द्वाम पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते सारे भूत को क्षर कहा और कूटस्थ को अक्षर कहा कूटस्थ का क्या है माया है कूटस्थ है माया पर ब्रह्म नहीं अक्षर कारण है माया है कारण बाकी सब कार्य है उत्तम पुरुष स्तन्य कार्य से भिन्न है उत्तम पुरुष परमात्मे उदाहरण जितने कारण कार्य न हो गए कारण हो गया अक्षर कूटस्थ माया है कार्य सारे प्रपंच कार्य है उनसे भिन्न है उत्तम पुरुष की उनसे भिन्न कितने है एक है परमात्मा वही ब्रह्म है वही आत्मा है कार्य कारण वर्ग सब का आयतन है आश्रय है आधारभूतम वो महत है बड़ा है प्रौढ़म सबसे व्यापक है आकाश से ब्रह्म व्यापक है आकाश के बराबर होगा आकाश से भी बड़ा है क्योंकि आकाश उसमें कल्पित है वास्तव नहीं है आकाश यदि वास्तव होगा अनंत उससे फिर बड़ा कैसे होगा ऐसे महत्व महियान महान से बढ़कर के भी महत्तर है आकाश से भी महत्तर है महत्व महियान बड़े जितने उससे भी बड़ा है तब आकाश से बड़ा कैसे होगा आकाश से तो अनंत है अनंत से भी बड़ा क्या होगा इसलिए आकाश भी कल्पित है तभी महत्तर उसे बनेगा सर्वाधारत्व न सबका एव सबका आधार है इसे सबसे बड़ा है और सूक्ष्माद सूक्ष्मतरम सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है अनुपरिमाणात सूक्ष्मतरम अनुपरिमाण से भी छोटा परमाणु के अंदर भी रहेगा महदपि अतिशय अणु बड़ा होता हुआ भी अत्यंत सूक्ष्म है महदअप अपे अतिशय ननु सबसे बड़ा होता हुआ भी सब के अंदर स्थित है अतिशय न अनुसूक्ष्मतर है नित्यम विनाश शून्य उसका विनाश नहीं होता है उत्पत्ति तो होती है हम्म उत्पत्ति भी नहीं नित्य है उत्पत्ति विनाश रहित है तदुतम परम ब्रह्म तमेव वही जो कहा गया तत्वमेव तत्वमेव तत् का अर्थ उत्तम परम ब्रह्म तत्शब्द तो से क्या लेना जो पर ब्रह्म कहा गया उत्तम परम ब्रह्म तम एव पर ब्रह्म तुम ही हो जो तद अवगंता एव न तो न तुम ब्रह्म को जानने वाले तुम वही ब्रह्म हो ब्रह्म को जानने वाले तद अवगंता उसको शब्द से पहले सुना ब्रह्म के विषय में जानने वाले पर ब्रह्म सर्वात्मा विश्व का आयतन सुनने वाले तुम ही ब्रह्म हो तत्वमेव तद अवगंत न तो अन्य अन्य कोई नहीं है नान्यो तो स्थिद्रष्टा श्रोतामता को यही नहीं एक ही तत्व है न नन तन्मत्तो अन्यद अहम तस्माद अन्य मई कर्तृत्वादि विशेष उपरम्भात इत्यतः तमेव तत् शंका करते तन्मत्तो अन्य अन्यद तद ब्रह्म मेरे से भिन्न है सब कहते ना हम ईश्वर मैं तो ईश्वर नहीं हूँ ईश्वर तो मेरे से भिन्न है इसलिए जो ब्रह्म है तन्मत्व अन्य तो मेरे से अन्य है और अहम तस्माद अन्य मैं भी उससे भिन्न हूँ ये महान भान होता है सबको अज्ञान अवस्था में इसे भान होता है श्रुति प्रतिपादन करती है शब्द प्रमाण है अज्ञात ज्ञापक होकर के से वेद शास्त्र पढ़ने के पहले शास्त्र ज्ञान के बिना मैं परमात्मा नहीं हूँ ये निश्चय किसको होता है क्या होता है या पढ़ने के बाद निश्चय होगा परमात्मा मैं नहीं हूँ ऐसा निश्चय होगा शास्त्र पढ़े बिना जगत करता मैं नहीं हूँ ऐसा निश्चय है किसको पूरा निश्चय है ईश्वर जो जगत करता अलग है मैं नहीं हूँ मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ सबको निश्चय है जो निश्चित है उसको श्रुति उपदेश नहीं करती है निश्चित वस्तु को ले करके अज्ञात ज्ञापक होने से प्रमाण लोक में भी जिसको आप जानते हो कोई आकर के उसको बताएगा वो छोड़ो हम जानते हैं कोई आकर बताया मैं तुमको इकोणची सूत्र का अर्थ बताऊं तो इकोणची सूत्र तो हम पढ़ाते हैं सिद्धांत कौन पढ़ते पढ़ाते इकोणची क्या हमको बताना तो कोई यदि बताए एक अष्ट्यंत है ये प्रथम अंत आदेश है ऐसा बोलते समय आप क्या बोलोगे लोग हम जानते हैं जो जानता है जो नहीं जानता है तो सुनेगा बहुत लोग पढ़ने के बाद भी स्पष्ट रूप से नहीं जानते ही कौन सी कहे स्थानीय आदेश निमित्त आदि कहेंगे तो बहुत लोग नहीं जानते हैं तो जो जानते हैं उसको सुनना नहीं चाहते हैं सामान्य चीज जानते हैं तो उसको क्या बताना श्रुति अज्ञात ज्ञापक होकर प्रमाण होती जीव ब्रह्म की एकता श्रुति प्रमाण को छोड़ देंगे किसको मालूम होता है मैं ब्रह्म हूँ करके ज्ञान हो जाएगा शास्त्र प्रमाण को श्रुति श्रुतिमूलक स्मृति इन प्रमाण के बिना मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कोई मालूम होता है किसको नहीं होता है समाधि में बैठेंगे तो मैं ब्रह्म ऐसा मालूम होता है नहीं होता है इसलिए उसका ज्ञापन श्रुति करती तत्वमेव तमेव तत् शंका करते मत तो अन्यत परमात्मा तो मेरे से भिन्न है मैं परमात्मा से भिन्न हूँ क्यों भिन्न है मैं कर्तृत्व आदि विशेष उपलब्ध है मैं कर्ता भोगता हूँ सुख दुख भोग करने वाला हूँ इसको बनाया जो कर्तृत्व है कार्य के भेद से कर्ता भी भिन्न भिन्न है कोई मकान बनाता है कोई घटा बनाता है कोई झोपड़ी बनाता है कोई भोजन बनाता है कर्ता भिन्न भिन्न है या नहीं ये तो परमात्मा कैसे होगा अतः तमेव तत् कहते तम एव तत् वही ही हो तुम जो कर्ता भोक्ता हो तो वस्तु तो अविद्या कर्ता भोक्ता हो वास्तव तुम्हारे स्वरूप में कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो कुछ है ही नहीं है शुद्ध चेतन है उसमें कोई धर्म नहीं है अंतकण के साथ आत्मा का तादात्म अध्यास एकत्व तो भ्रम हो जाता है बुद्धि में है बुद्धि में सब कुछ क्रिया होती है उसके साथ आत्मा का तादात्म अध्यास होता है आत्मा का अध्यास एकत्व तो भ्रम कैसे होता है क्योंकि बुद्धि में चिदाभास उदय होता है चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में ही कर्तृत्व है कर्तृत्व जड़ में रहेगा या चेतन में रहेगा जड़ में कर्तृत्व तो नहीं रहेगा कोई देखा है घट करता है दृष्टा है घट पट को देखता है या पट बनाता है पटना बनाता है न तो देखता है दृष्टा नहीं करता नहीं जड़ होने से सब कोई कोई बताए जड़ तो करता नहीं होगा इसलिए चेतन ही करता होगा क्योंकि जड़ कहीं करता नहीं दिखा गया जड़ नहीं तो जड़ से बिना क्या बचेगा चेतन ही बचा चेतन ही करता होगा कितने स्पष्ट युक्ति कोई सारा जीवन भय तपस्या करके यही सिद्ध किया चेतन है करता चेतन में कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो। क्योंकि युक्ति क्या है जड़ तो करता नहीं होगा कहीं घटपट करता है क्या जड़ पत्थर करता है नहीं तो करता चेतन होगा तो उसको पूछो जड़ करता नहीं क्यों कहीं नहीं दिखा गया अचेतन करता है कहाँ आपने देखा चेतन दिखता है ना दिखता है ना नहीं चेतन जो दिखता है ये शरीर दिखता है कहते मैंने घट बनाया ये मकान बनाया बनाने वाले क्या चेतन आत्मा तुमको दिखता है क्या जो दिखता है उसमें कर्तृत्व तो कहो चेतन में क्यों कहते हो जैसे केवल जड़ करता नहीं केवल चेतन कुछ करते हुए दिखाए किसने शरीर इंद्र के बिना शुद्ध चेतन कुछ करता है पेड़ काटता है पहाड़ तोड़ता है सावर उठाता है भोजन बनाता है क्या करता है तो जड़ नहीं करता है करता नहीं हो सकता है वो तो ठीक है चेतन करता कैसे हो गया चेतन को करता कहाँ दिखा है जिसमें दिखता उसमें कर्तृत्व तो मानो ये जड़ चेतन मिला हुआ ये इसमें कहते जड़ में कर्तृत्व तो नहीं चेतन में कर्तृत्व तो नहीं दोनों मिलाकर कर्तृत्व तो मानेंगे तो बस चार भाग का मत आ जाएगा डरा देते हैं और लोग उनके पीछे खुश होकर चलते हैं चार भाग का मत क्या है आकाश आदि पांच भूत है किसी भूत में चैतन्य नहीं रहता है चार ही भूत हैं आकाश नहीं मानते चार भाग लोगों क्योंकि प्रत्यक्ष दिखेगा तो मानेंगे आकाश को चार भाग लोग नहीं कहते पृथ्वी जल तेज वायु चार प्रकार है चार प्रकार भूत में चैतन्य किस में रहता है किसी में नहीं और देह में चैतन्य कहाँ से आ गया देह में चेतन कैसे बोलते ये जैसे फल पुष्प आदि पत्र आदि सड़ा करके मध्य बनाते हैं फल आदि में कुछ मदिरा शक्ति नहीं है उसको सड़ा करके क्या करके बना कर मदिरा बनाते मध्य शक्ति आ जाती है इसी प्रकार चार भूतों का एक मिलन होता है तो उसमें चैतन्य उत्पन्न होता है उसको जाकर देखा है देखो मिट्टी में वर्षा होने पर पानी है और धूप भी पड़ा हुआ है धूप भी पानी में धूप रहेगा क्या अगर सूर्य किरण आ सकता है और वायु चलता है पानी हिल रहा है मिट्टी है पानी है तेज सूर्य किरण भी है और वायु से हिल रहा है उसमें चैतन्य आ जाएगा ना नहीं चारी भूत मिलने पर चैतन्य तो चारी भूत मिला हुआ उसमें चैतन्य हो जाए ये कहते नहीं कि विलक्षण संयोग होने पर बनता है तो विलक्षण से पृथ्वी जल तेज मिला करके शरीर जैसे बना दो चेतना आ जाएगा वो फिर विलक्षण स्वयं किसने बनाया तुम बनाओ विलक्षण संयोग पृथ्वी जल तेज मिला करके बना दो एक मूर्ति उसमें चैतन्य आ जाए आ जाए ना नहीं तो फिर सर्व विलक्षण संयोग किसने बनाया ईश्वर तो नहीं मानेंगे चेतन कुछ नहीं है तो चार भूत में चैतन्य नहीं रहने पर भी मिलने पर चैतन्य आ जाएगा ये चार भाग का मत है तो ये कोई कहते हैं जड़ में कर्तृत्व शुद्ध चेतन में कर्तृत्व नहीं है जड़ में कर्तृत्व नहीं दोनों मिलने पर कर्तृत्व आ जाएगा तो चार भाग का मत आ जाएगा इसलिए चेतन को कर्ता मानो जो मरुभूमि में जल दिखता है और जल मरुभूमि का जल है या समुद्र का जल बताओ मरु में जल नहीं समुद्र का जल सामने नहीं अब जल दिखता है तो चारवा का मत आ गया इसलिए मरुभ में जल है मान लो मान लेना है या सामने समुद्र मान लो मरुभ में जल नहीं है समुद्र सामने नहीं है पानी दिखता है वो पानी किसका है समुद्र का पानी या मरुभूमि का पानी है क्या कहना दोनों मिला पर मिलकर कहीं सूर्य किरण मरुभूमि मिलकर के हो गया तो चार भाग मत आ जाएगा डरा दे इसलिए मरुभ में माल लो हो नहीं तो सामने समुद्र मान लो जल वास्तव हो तो किसका मानना है जल कल्पित जल है तो किसका मानना है सपने में देखा है कि व्यक्ति को जगने के बाद कहते किसका लड़का को देखा था किसका लड़का है उसके पिता माता कौन है कोई पेड़ देखा उस पेड़ को किसी ने लगाया था आगे विचार कोई करता है सपने में देखा है कि मंदिर पहाड़ देखा इसे पहाड़ किसने बनाया पेड़ किसने लगाया कोई विचार करता है कल्पित पदार्थ का करता कहाँ है कुछ नहीं जिस प्रकार जल मरुह में दिखता है वास्तव नहीं है इस प्रकार कर्तृत्व तो जो दिखता है वास्तव नहीं है उसको वास्तव मान कर कहते कहाँ रहता है तो मरुह के जल कहाँ रहता है पहले बता दो मरुह में है तालाब में है या समुद्र में रहता है कहाँ रहता है दिखता तो है दिखने पर भी वास्तव नहीं इसी प्रकार कर्तृत्व अनुभव में आता आता है अहम कर्ता सब जानते हैं ये कर्तृत्व वास्तव नहीं जो वास्तव जो नहीं उस किस्से में रहता है क्या प्रश्न करना है जड़ में या चेतन में चेतन में अध्यस्त मानो चेतन में आरोपित है अध्यस्त कर्तृत्व है चेतन में किस प्रकार आरोपित है मरु में जल कैसा है कल्पित है इसी प्रकार चेतन में कल्पित चेतन में कल्पित कहन से चेतना कर्ता हो जाएगा सारा ब्रह्मांड चेतन में कल्पित है कल्पित है ना नहीं तो सारा ब्रह्मांड कल्पित है तो चाहे कर्तृत्व भी कल्पित हो गया तो क्या बिगड़ा कल्पित हो जाए किंतु वास्तव कर्ता नहीं है चेतन इसलिए वस्तुतः तुम कर्ता नहीं हो अविद्या से ही कर्ता होता तो अपने को मानते हो वस्तुतः परम ब्रह्म न तो अन्य वस्तुतः तुम पर ब्रह्म ही हो अन्य नहीं हो ब्रह्म ही यही सिद्धांत है वेदांत का सिद्धांत बार बार वही है वेद प्रमाण है वेद प्रमाण है श्रुति श्रुति में अवय आज्ञा परमात्मा कहते आज्ञा है उसको प्रमाण को मान करके चिंतन करना किसी मत में दुराग्रह करके बैठ करके भेद बुद्धि रख करके चलने पर कोई कल्याण नहीं होगा श्रुति प्रमाण है उसको बार बार विचार करके इसीलिए श्रवण करना पड़ता है श्रुति तात्पर्य निश्चय बार बार श्रवण करने से स्पष्ट होता है उपनिषद क्या अष्टादश पुराण में कोई पुराण लेकर देखो एकत्व का प्रतिपादन सर्वत्र है भागवत में तो इतने स्थान है अद्वैत मत प्रतिपादन वहाँ उसको द्वैत मत वाले द्वैत अर्थ करना बड़ा कठिन होता है बहुत खिंचतान करना पड़ता है तो भी बड़ा कठिन होता है ऐसे सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा ये सोहम अस्मि वृत्ति अखंड ब्रह्माकार वृत्ति रामायण में कहा गया बड़े द्वैतवादी लोग द्वैत आग्रह करने वाले उसको पूछो अब बड़ा उसके आगे उत्तर नहीं है कुछ ना कुछ खींचतान करेंगे एक बड़े द्वैतवादी बड़े जोर से आकर कहा तो वेदांत मत अद्वैत ठीक नहीं जब भगवान का दर्शन हो जाएगा तो अद्वैत बहुत छूट जाएगा फिर उनको पूछा ये सोहम अस्मृति वृत्ति अखंड ये क्या कैसे अर्थ करते कहते इसलिए तो रामायण प्रसिद्ध है सब मत उसमें वेदांत मत भी है अभी कह रहे थे अद्वैत मत छूट जाएगा फिर कहते अद्वैत मत भी उसमें है फिर मानते हैं <laughs> इसलिए रामचरित मानस में आया सोम अस्मृति वृत्ति अखंडा अद्वैत मत पारमार्थिक अज्ञात ज्ञापक होने से श्रुति प्रतिपाद्य है द्वैत श्रुति प्रतिपाद्य नहीं क्योंकि ज्ञात है ओम सहनावतु सहनौ भुन सह वीर वह तेजस्वी तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावह ओम शांति शांति शांति